लोगों जो किताब तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से उतारी गई है उसके पीछे चलो और अपने परवरदिगार को छोड़कर दूसरे मनखड़त सरपरस्तों के पीछे न चलो मगर तुम लोग नसीहत कम ही मानते हो